परम पिता परमात्मा का स्मरण नित्य मुक्त परमात्मा प्रणव ओ धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा को विभिन्न नामों से हम पुकारते हैं उसकी विभिन्न विशेषताओं को संबोधन में समाहित करते हैं महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र के व्याख्यान में परमात्मा को विभिन्न गुणों से युक्त विशेषणों से युक्त संबोधित किया है जो कि वेदादि शास्त्रों के अनुरूप आर्ष परंपरा के अनुरूप किया है महर्षि दयानंद ने जो संबोधन दिए हैं वो वैदिक परंपरा और आश परंपरा के अनुरूप है एक संबोधन हम पीछे देख रहे हैं उन्होंने लिखा हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आज परमात्मा के मुक्त स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं मुक्त का मतलब है पृथक हुआ हुआ छूटा हुआ अनासक्त परमात्मा दुखों से सदा रहित है <coughs> परमात्मा दुखों से सदा रहित है इसलिए वो सदा मुक्त है परमात्मा विभिन्न दोषों से मुक्त है रहित है पृथक है परमात्मा की ये बहुत बड़ी विशेषता है सामान्य रूप से हम मुक्ति को बंधन के साथ में जोड़ते हैं जो व्यक्ति बंधन में है वो मुक्त नहीं हो सकता और जो मुक्त है वो बंधन में नहीं होता है हम साधक लोग अपने को अभी बंधन में स्वीकार करते हैं हम शरीर के बंधन में हैं साधना करके शरीर के इस बंधन से हम मुक्त होंगे जिस प्रकार से हम शरीर के बंधन में हैं प्रकृति के बंधन में हैं परमात्मा इस तरह से शरीर में नहीं बंधा हुआ है प्रकृति से नहीं बंधा है जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं फिर जन्म लेते हैं जन्म मरण का चक्र चलता है और हम उसमें बंधे रहते हैं परमात्मा इस तरह से शरीर के बंधन में नहीं आता वो जन्म नहीं लेता और चूंकि उसका जन्म नहीं होता शरीर धारण नहीं होता इसलिए मरण से भी वो पृथक है इसलिए परमात्मा मुक्त है मनुष्य योगी बनकर के जीवन मुक्त होता है और फिर मुक्ति को प्राप्त करता है नितांत मुक्त होता है लेकिन उसका बंधन पहले तो था और मुक्ति के काल को पूर्ण करके फिर वो शरीर को धारण करेगा लेकिन परमात्मा न तो पहले कभी शरीर के बंधन में था और न आगे कभी शरीर के बंधन में नहीं बंधन में आएगा इसलिए वो मुक्त है हम इस शरीर में रहते हैं हम जीवात्मा आत्मा और इस शरीर में पूरी में रहने के कारण से हम पुरुष कहलाते हैं तो हम इस शरीर से जुड़े हुए हैं परमात्मा को भी पुरुष शब्द से कहा गया और परमात्मा भी पूरी में रहता है परमात्मा इस समस्त कार्य जगत मूल प्रकृति जो जड़ पदार्थ है इस सब के अंदर रह रहा है और इसलिए उसे भी पुरुष कहा जाता है तो जैसे आत्मा का ये शरीर है और आत्मा पुरुष कहा जाता है और आत्मा का बंधन कहा जाता है उसका जन्म मरण होता है इस प्रकार से परमात्मा इस प्रकृति में रहता हुआ कार्य जगत में रहता हुआ भी उसके बंधन में नहीं आता ये कार्य जगत उसका शरीर होते हुए भी ये उसके बंधन का कारण नहीं है जिस प्रकार से हमारा ये शरीर है इस शरीर के आधार पर हम कर्म करते हैं और कर्मों के फल भोगते हैं ये समस्त कार्य जगत संसार परमात्मा का शरीर होते हुए भी वो उसके किसी कर्म फल भोग का साधन नहीं है परमात्मा उससे इस प्रकार से नहीं बंधा है जैसे हम इस शरीर से बंधे हैं ये शरीर हमारा भोगायतन है भोग का आश्रय है परमात्मा कार्य जगत में संसार में रहता हुआ भी उससे भोग नहीं भोगता वो परमात्मा का भोगायतन नहीं है इसलिए गौण रूप से परमात्मा को शरीर वाला कहते हुए भी इस कार्य जगत को परमात्मा का शरीर कहते हुए भी ये वैसा उसका शरीर नहीं है जैसा हमारा है परमात्मा इसमें निवास कर रहा है विद्यमान है मात्र इतने से उसे पुरुष कह दिया जाता है मात्र इतने से संसार को उसका शरीर कहा जाता है न तो वो परमात्मा का भोगायतन है और न कर्म करने का साधन है और जिस प्रकार से कोई आत्मा शरीर में रहते हुए अपने लिए कार्य करता है अपने हित की कामना करता है अपनी उन्नति करता है इस प्रकार से परमात्मा इस संसार में रहते हुए अपने हित के लिए कुछ नहीं करता वो जीवात्माओं के हित के लिए करता है और इस संसार में रहते हुए परमात्मा की कोई उन्नति नहीं है परमात्मा की कोई उन्नति नहीं है इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि परमात्मा तो सर्वोन्नत है उसे सब कुछ प्राप्त है आनंद से परिपूर्ण है तो उसे उन्नति की कोई उसे उन्नति का कोई वहां अवसर या आवश्यकता ही नहीं है वो उन्नत है तो परमात्मा न तो हमारी तरह शरीर धारण करता है जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता और जो ये संसार उसका शरीर कहा भी जाता है और उसे पुरुष कहा भी जाता है वो एक कौन कथन है और भिन्न रूप में है इसलिए परमात्मा मुक्त है परमात्मा ने अपने उत्तम सामर्थ्य से उत्तम ज्ञान से और उत्तम भावना से युक्त होकर के इस संसार को बनाया है निस्वार्थ भाव से बनाया है परमात्मा की संसार को बनाने की तत्परता लगन प्रयत्न बहुत बड़ा है आत्माओं का हित करने की उसकी भावना बहुत ऊंची है लेकिन इतना होते हुए भी इतने प्रेम से इतने ज्ञान से इतनी कुशलता से इस संसार को बनाने पर भी वो इससे मुक्त है हम संसार में किसी वस्तु का निर्माण करते हैं भोजन बनाते हैं चित्र बनाते हैं मकान बनाते हैं देश और राष्ट्र को बनाते हैं समाज बनाते हैं जिसके भी प्रति हम बड़ी भावना से तत्परता से पूरी कुशलता से लगते हैं कार्य करते हैं और जब वो चीज बन जाती है तो हमारा उससे एक लगाव हो जाता है प्रेम होता है आसक्ति होती है परमात्मा हमारे से कई गुना अधिक प्रेम से ज्ञान से तत्परता से इस संसार को बनाता है लेकिन उसके बाद भी वो इससे आसक्ति नहीं रखता लगाव नहीं रखता हमने जिस चीज को बड़े चाव से बनाया है उसको यदि कोई विकृत करे तो हमें दुख होता है हमें अपना प्रयत्न व्यर्थ होता हुआ दिखता है हम उसके प्रति क्रोधित हो सकते हैं क्षुभित हो सकते हैं ये हमारी उस वस्तु के प्रति आसक्ति को बताता है लगाव को बताता है अर्थात हम उस वस्तु से मुक्त नहीं हुए जिसको हमने बड़े प्रयत्न से वर्षों के प्रयत्न से बनाया संवारा प्रतिष्ठित किया लेकिन परमात्मा ने जब इतनी अच्छी तरह इस सृष्टि को बनाया और हम जैसे मनुष्य परमात्मा की आज्ञा के विपरीत चलते हुए इसको विकृत करते हैं जाने अनजाने उपयोग करने में जो परिवर्तन होता है उसके अतिरिक्त हम इसे विकृत भी करते हैं लेकिन उस विकार के बाद भी हमारे द्वारा इतना विकार किए जाने पर भी परमात्मा दुखी नहीं होता इसलिए परमात्मा मुक्त है हमने जिस चीज को बनाया उसको यदि कोई नष्ट कर दे पूरी तरह नष्ट कर दे तो भी हमारे साथ में वही दोष आ जाता है लेकिन यदि कोई संसार को संसार की किसी वस्तु को नष्ट करे संपूर्ण संसार को तो मनुष्य नष्ट ही नहीं कर सकता उसकी सामर्थ्य ही नहीं है मनुष्य सूर्य को नष्ट नहीं कर सकता पूरी पृथ्वी को भी नष्ट नहीं कर सकता हाँ उसके कुछ भाग में उपद्रव कर सकता है उथल पुथल कर सकता है करता रहता है और जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं परमात्मा के बनाए हुए शरीर हैं उनको मनुष्य नष्ट करता है करता रहता है लेकिन परमात्मा उसके बाद भी दुखी नहीं होता इसलिए परमात्मा मुक्त है ये परमात्मा के मुक्त स्वरूप को जान करके हम अपने को मुक्त करने का रास्ता प्रशस्त करते हैं परमात्मा किस व्यापकता से मुक्त है किन किन क्षेत्रों में मुक्त है उसी प्रकार का प्रयास हमारे साथ भी होगा हम भी करेंगे और चूंकि हम संसार की वस्तुओं से व्यक्तियों से मुक्त नहीं रहते इसलिए प्रभावित भी बहुत होते हैं और दुखी भी होते हैं हमारी बनाई हुई वस्तु की कोई प्रशंसा कर दें तो हमें सुख होता है एक सामान्य प्रसन्नता अलग बात होती है और एक आसक्ति रूप प्रसन्नता अलग बात होती है दोनों हमारे में रहती है अपने अपने साधना के स्तर पर न्यूनाधिक लेकिन हम मनुष्य परमात्मा की कितनी भी प्रशंसा करें उसकी बनाई वस्तुओं की कितनी भी प्रशंसा करें उससे अभिभूत रहें इससे परमात्मा पर कोई अंतर नहीं आता इसलिए परमात्मा मुक्त है हम उसके बनाए हुए संसार का सदुपयोग करते हैं अच्छी बात है परमात्मा फिर भी वैसा ही है हम इसका दुरुपयोग करते हैं इसे नष्ट करते हैं परमात्मा फिर भी वैसा ही है इसलिए परमात्मा मुक्त है नित्य मुक्त है लौकिक जीवन में हम किसी व्यक्ति के लिए विशेष कार्य करते हैं विशेष सहयोग देते हैं समय का धन का सेवा का बच्चों को पालते पोसते हैं वर्षों लगा देते हैं उसके लिए उसके लिए कष्ट सहते हैं पूरा प्रयास करते हैं और ऐसे में वो व्यक्ति वो संतान वो मित्र वो संबंधी जब हमारी उचित बात को भी ना माने तो हमें खिन्नता हो जाती है हमें अपने किए हुए पर संकोच होता है कि मैंने ठीक किया या नहीं किया मैंने ठीक व्यक्ति के लिए किया या नहीं किया यही विचार आता है ये कैसे व्यक्ति हैं जिनके प्रति मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया तो मेरी बात नहीं मान रहे और मेरे प्रति ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं मेरी आलोचना कर रहे हैं और उससे हम अपनी स्थिति को नीचे ले जाते हैं क्षुप्त होते हैं परमात्मा के इतने उपकार होने पर परमात्मा के द्वारा हमारे लिए इतना कुछ किए जाने पर भी हम परमात्मा की सब बातों को नहीं मानते इससे परमात्मा दुखी नहीं होता क्षुप्त नहीं होता इसलिए परमात्मा मुक्त है परमात्मा के इतने उपकारों को प्राप्त करके भी अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की आलोचना कर देता है परमात्मा पर दोषारोपण कर देता है परमात्मा को स्वीकारता तक नहीं है परमात्मा की पूर्ण उपेक्षा कर देता है लेकिन इसके बाद भी परमात्मा अपनी जगह यथावत है इसलिए परमात्मा मुक्त है परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है ये ठीक है ये उसका कर्तव्य है परमात्मा अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का अशुभ फल देता है इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुक्त नहीं है वो मुक्त है परमात्मा न्याय व्यवस्था करते हुए भी पूर्ण मुक्त है वो दंड देते हुए भी मुक्त है और वो पुरस्कार देते हुए शुभ फल देते हुए भी वो मुक्त है सामान्य रूप से हम जब किसी के प्रति न्याय करते हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा उससे भी लगाव हो जाता है और फिर जब वो हमारे प्रति अन्याय करता है तो हम दुखी हो जाते हैं इसका मतलब हम आसक्त हैं उससे मुक्त नहीं है परमात्मा हमारे प्रति न्याय करता है अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए न्याय करता है लेकिन हमारे द्वारा परमात्मा के प्रति सदा न्याय नहीं हो पाता और उसके बाद भी परमात्मा प्रभावित नहीं होता वो जानते हुए भी कर्मानुसार फिर उचित व्यवहार करते हुए भी कृपा और अकृपा करते हुए भी वो मुक्त है परमात्मा उस तरह का मुक्त नहीं है कि कोई कुछ भी करे और उस पर वो कोई प्रतिक्रिया ना करे वो न्याय व्यवस्था ना करे वो अच्छे लोगों पर कृपा ना करे दुष्ट लोगों पर अकृपा ना करे ऐसा मुक्त नहीं है वो मुक्त रहने का और तटस्थ रहने का ये अभिप्राय नहीं होता कि कुछ भी होता रहे और हम प्रतिक्रिया ना करें अच्छे अर्थों में भी प्रतिक्रिया ना करें उसको रोकना उसको व्यवस्थित करना उससे दूसरों को जो हानि होती है उसको व्यवस्थित करना प्रबंधन करना ये भी हम ना करें ये तटस्थता का मतलब नहीं है ये मुक्त होने का मतलब नहीं है परमात्मा इन सब को करते हुए भी इससे अलग है उसको कोई लगाव नहीं किसी से भी परमात्मा इतने अनंत कर्मों को करता है इतना कर्म करते हुए भी वो उनसे मुक्त है वो कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनते परमात्मा भक्तों से बहुत प्रशंसा सुनता है हम जिससे अपनी प्रशंसा सुनते हैं कोई हमारा भक्त प्रतीत होता है तो हमारा उससे अतिरिक्त प्रेम होता है परमात्मा भी अपने भक्तों से निकटता रखते हैं उनका उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करते हैं लेकिन जिस प्रकार से हम अपने भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर वो भक्त यदि कुछ विपरीत कर दे हमारा प्रशंसक यदि कोई निंदा कर दे तो हम बेचैन हो जाते हैं परमात्मा इतने भक्तों वाला होते हुए भी उनको उस रूप में अपना नहीं समझता उतना लगाव नहीं रखता कि उनके द्वारा कुछ विपरीत होने पर दुखी हो जाए जो हमारी प्रशंसा करता है उसको हम बहुत अपना समझने लगते हैं कोई हमें वस्तुएं देता है उसको हम बहुत अपना समझने लगते हैं और अपना समझते हुए हम उस लगाव आसक्ति में पहुंच जाते हैं कि हम मुक्त नहीं रह पाते हैं परमात्मा इन सब से पृथक है हम किसी बड़े व्यक्ति की सेवा करें बड़े व्यक्ति के अनुसार चलें तो भी हम उससे एक अपनापन बना लेते हैं एक निकटता बना लेते हैं उसके अनुसार चलते हुए उसके अधिकार में रहते हुए उसके नियंत्रण में रहते हुए जब बहुत तपस्या करते हैं लंबे समय तक चलते हैं तो परोक्ष रूप से हम उसके ऊपर अपना कुछ अधिकार समझने लगते हैं यद्यपि प्रकट रूप में हमने अपने को उनके अधिकृत कर दिया है हम उनके अनुसार चल रहे हैं अपनी इच्छाओं को छोड़ करके चल रहे हैं ये किया हुआ है लेकिन ऐसा करते करते भी एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं इनके अनुसार चल रहा हूं इतने लंबे समय तक चल रहा हूं इनकी सेवा कर रहा हूं इनके लिए समय दे रहा हूं तो मेरा भी इन पर कुछ अधिकार बनता है और उस व्यक्ति वो सेवक उस अधिकार की भावना से युक्त होकर के कुछ आग्रह बना लेता है इनको मेरे प्रति ये व्यवहार करना चाहिए मैं इनके अनुसार इतना चल रहा हूं मैं तो जो कहूंगा वो ये मान ही लेंगे इनको मानना ही पड़ेगा ये आग्रह सेवक के मन में भी बन जाता है लेकिन जो बड़े व्यक्ति मुक्त हैं बुद्धिशील हैं विवेकी हैं वो अपने कितने भी बड़े सेवक की गलत बात को नहीं मानेंगे उसके गलत आग्रह को कभी नहीं मानेंगे केवल इसलिए कि उसने हमारी इतनी सेवा की है सेवा कर रहा है हमारी बहुत सारी आज्ञाओं को मान रहा है इसलिए मैं इसकी बात मान लू विवेकी व्यक्ति कभी नहीं करेगा ऐसा क्योंकि वो अपने को पृथक रखता है लेकिन जो बड़ा व्यक्ति इस तरह से अपने को पृथक नहीं रख पाता वो अपने सेवक के अनुसार चलने लग जाता है वो अपने को बाधित अनुभव करता है बाधित नहीं तो वो प्रसन्नता पूर्वक भी अपने सेवक के अनुसार चलने लग जाता है विवेक को एक तरफ रख के विवेक को शिथिल करके और ऐसी स्थिति में दोनों में संबंध तो बहुत अच्छे रहते हैं बहुत निकटता रहती है लेकिन अविवेक बीच में आ जाता है और इन्हीं स्थितियों को देख करके सेवक के मन में एक अधिकार बन जाता है अधिकार भाव आ जाता है कि मैं जो कहूंगा वो ये करेंगे इनको करना पड़ेगा मैं इनसे अपनी बात मनवा लूंगा क्योंकि उसे पता है ये मान लेते हैं ऐसा सोचते हैं और इसलिए साधना के क्षेत्र में इस तरह के वाक्य प्रचलित हो गए कि भगवान भक्तों के वशीभूत रहता है भगवान तो अपने भक्तों का दास है भक्त जो कहेगा वो परमात्मा कर लेगा व्यापक मान्यताएं चल पड़ी लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है परमात्मा यहां भी मुक्त है हम परमात्मा की कितनी भी आज्ञा को पालन कर लें उसकी कितनी भी स्तुति कर लें ध्यान उपासना में घंटों वर्षों लगा दें तो भी यदि हम ये आग्रह रख लेंगे कि मैं जो कहूंगा वो परमात्मा कर लेगा ये हमारी भ्रांति है परमात्मा ऐसे भक्त से भी ऐसे साधक से भी मुक्त है परमात्मा का उससे लगाव फिर भी नहीं है वो योगी जो समाधि को प्राप्त कर चुका है उसके प्रति भी परमात्मा मुक्त है उसके किसी आग्रह से वो बाध्य नहीं है बाधित नहीं है वो भक्त के वश में नहीं है इसलिए परमात्मा मुक्त है लेकिन अति प्रेम में अति निकटता में भक्तजन ऐसी भावना परमात्मा के प्रति बना लेते हैं उनको ये नहीं पता कि परमात्मा इस तरह का है ही नहीं परमात्मा मुक्त है इस स्तर पर भी वो मुक्त है उस व्यक्ति के प्रति भी मुक्त है जो परमात्मा की समस्त आज्ञाओं को पालन करते हुए समाधि को प्राप्त हो चुका है परमात्मा की आज्ञाओं को संसार में फैला रहा है उससे भी परमात्मा मुक्त है परमात्मा को अपने आप में कोई अंतर नहीं आता परमात्मा किसी के आग्रह पर बल पर नहीं चलता वो अपने नियम अनुशासन में चलता है अपने ज्ञान के अनुसार चलता है सबके लिए जो हितकर है उसके अनुसार चलता है परमात्मा के लिए सब आत्मा एक दृष्टि से समान है इसलिए वो मुक्त है किसी एक से नहीं जुड़ा हुआ है उत्तम आत्माओं का और निकृष्ट आत्माओं का यथा योग्य न्याय करता हुआ भी वो मुक्त है और श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति भी विशेष रूप से वो मुक्त है तो परमात्मा की मुक्त स्थिति मुक्त स्वभाव बहुत व्यापक है ये अकेला एक गुण ऐसा है अपने आप में है इतना बड़ा ये गुण है परमात्मा का कि यह हमारी समस्त साधना का मार्ग प्रशस्त कर देता है परमात्मा को जिस रूप में हम मुक्त देख सकते हैं परमात्मा जिस रूप में मुक्त है उस रूप में हम अपने को मुक्त रखने का प्रयास करने लगे तो भी सारी की सारी वही साधना हो जाएगी जो किसी दूसरे ढंग से होती है परमात्मा का मुक्त स्वभाव उसके शुद्ध ज्ञान का प्रतिफल है परमात्मा का मुक्त स्वभाव उसकी परिपूर्णता का प्रतिफल है हम भी अपने ज्ञान को शुद्ध बनाते हुए मुक्त होते जाते हैं धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से जहां जहां लगाव है उससे धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं और ये सब हमें करना ही होता है ये साधना का मार्ग मुक्ति का मार्ग ही तो है मुक्त होने का मार्ग है लगाव हमने स्वयं ने पैदा कर रखा है अपने शरीर से अपने ज्ञान से अपने यश से अपने परिवार से अपनी संस्था से अपने मत संप्रदाय से ये हमने पैदा कर रखा है अपने कर्मों से लगाव पैदा कर रखा है तो जिस प्रकार से परमात्मा इन सब को करता हुआ भी मुक्त है ऐसे हमें मुक्त रहना है नहीं तो साधक लोग मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए इन चीजों को ही छोड़ने लग जाते हैं शरीर से मुक्त होना है तो शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव धन से आसक्ति प्रतीत होती है तो धन को ही छोड़ दो जिन चीजों को बनाया है खड़ा किया है वर्षों लगाए हैं उनके प्रति आसक्ति लग रही है तो उन्हीं को छोड़ दो उनको छोड़ करके मुक्ति का प्रयास चलने लगता है क्योंकि साधक ये देखता है इनके साथ रहते हुए तो मैं इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं राग और द्वेष बने हैं लेकिन ये मुक्ति का मार्ग परमात्मा वाली मुक्ति का मार्ग नहीं है ये तो आलम्बन से दूर हटने का एक प्रारंभिक उपाय मात्र है इतने करने से वो मुक्ति नहीं होती वो मुक्ति की स्थिति प्राप्त नहीं होती वो मुक्त स्वभाव नहीं बनता जो मुक्त स्वभाव परमात्मा का है परमात्मा इस सबको बना करके भी इसमें रहते हुए भी मुक्त है परमात्मा इन सबको बनाते हुए बना करके और कोई इनको नष्ट भी कर रहा है तो भी मुक्त है परमात्मा इसको बचाने का प्रयास कर, कर रहा है लेकिन फिर भी नष्ट करने वाले के प्रति से मुक्त है परमात्मा आजाओं आज्ञाओं का निर्देश कर रहा है परिपालन करवाना चाहता है जो नहीं करता उसको दंड भी देता है लेकिन फिर भी वो मुक्त है तो परमात्मा का जो मुक्त स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुरूप हमें भी मुक्त होना है कर्मों को करते हुए भी मुक्त रहना है इस शरीर में रहते हुए भी इससे मुक्त रहना है धन संपत्ति इकट्ठा करते हुए भी उससे मुक्त रहना है संस्था परिवार आदि बनाते हुए समाज बनाते हुए भी उससे मुक्त रहना है तो अध्यात्म में मुक्ति का प्रयास करते हुए भी मुक्त करते हुए भी इन सबको छोड़ छोड़ करके जो मुक्त होने का प्रयास है वो एकांगी और एक अंश तक ठीक है लेकिन उसे ही सब कुछ मान लेना और इन सबको छोड़ देने पे अपने को मुक्त समझने लग जाना ये परमात्मा वाले मुक्त स्वभाव से मेल नहीं खाता तो परमात्मा को हम जब मुक्त स्वभाव वाला देखते हैं जैसा परमात्मा है जिस मुक्त स्वभाव वाला वो है वैसा ही मुक्त स्वभाव वाला बनने का हम भी प्रयास करते हैं भले ही धीरे धीरे होता है लेकिन हमें ये स्पष्टता रहनी चाहिए कि परमात्मा मुक्त स्वभाव वाला है इस प्रकार का है तब तो हमारा योग का मार्ग मुक्ति का मार्ग ठीक ठीक चलता रहेगा नहीं तो परमात्मा को मुक्त समझते हुए भी हम भिन्न ढंग से मुक्त होने का प्रयास करते रहेंगे और उस मुक्त स्वभाव को नहीं पा सकेंगे जैसा कि परमात्मा है तो परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है मुक्त स्वभाव है और नित्य मुक्त स्वभाव है इस भावना को मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण ओम का उच्चारण ओ